संगत करिय न कर संग सदा दुखदाई कपिल ढाल हर आई खलन हृदय अति ताप

कार्यरत कर तरह संतों के लक्षण होती है भरत जी के पूछने पर भगवान ने संतों के लक्षण बताए अब जो असंत हैं <clears throat> उनके भी लक्षण बताते हैं वैसे तो जो संतों के लक्षण के विपरीत जो लक्षण है वह संतों को गए <clears throat> संत लोग जैसे परोपकार में लगे हुए हैं परहित में लगे हुए हैं उसी के लिए उनका जीवन है तो असंतों का इसका विपरीत अपना स्वार्थी जीवन है दूसरे को भी कष्ट पहुंचा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे ये दुष्टता का स्वभाव है वही मुख्य बात वही है लेकिन फिर भी भगवान उनके जो है वो उनके अलग से फिर से जो दोष हैं उनको दोषों को गिना देते हैं परंपरा इसी प्रकार की रही है प्राचीन काल से कि गुण और दोष दोनों का वर्णन करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं अंतर भी दोनों को बता देने से स्पष्टीकरण ज्यादा हो जाता है थोड़ा बहुत कहीं कहीं अंतर भी दिखाई देता है <clears throat> प्राचीन साहित्य में देखते हैं पश्चिमी साहित्य में अरस्तु एरिस्टोटल हुआ उसने भी एथिक्स पर पुस्तक लिखी तो कौन कौन से गुण हैं वो सब उसने बताए और फिर ये भी बताए कि दुर्गुण कौन कौन से हैं वो सब उसने गिनाए <clears throat> तो इससे मालूम होता है कि गुण और दुर्गुण ये एथिक्स उसने तो एथिक्स के अंदर रखा ये सब है तो उसने परमार्थ की बात नहीं कही जितने अपने व्यवहारिक जीवन में ही जो गुण और दोष हैं उनका उसने वर्णन किया नैतिकता अपने व्यवहारिक जीवन के गुण दोषों का निरूपण करती है लेकिन जब धर्म की बात आती है तो वो परलोक की बात भी आ जाती है स्वर्ग नरक की बात भी धर्म के साथ में आ जाती है और फिर और आगे बढ़ते हैं तो फिर परमार्थ की बात परमात्मा भी है उसमें भक्ति भी है ज्ञान भी है ये भी सब आ जाते हैं तो भारतीय नैतिकता में भी कभी कभी इस प्रकार से इसको सबको जोड़ लेते हैं या जीवन दर्शन में मान ले तो उसमें भारतीय जीवन दर्शन में नैतिकता धर्म और परमार्थ ये तीनों बातें आती हैं तो यहाँ गुण दोष जब बताते हैं तो संपूर्ण बता देते हैं नैतिकता के भी गुण धर्म के भी जो गुण आवश्यक तत्व हैं और परमार्थ के जो आवश्यक तत्व हैं वो सब बता देते हैं और फिर इसके विपरीत जो इनसे विहीन व्यक्ति हैं न उनमें नैतिकता है न धर्म है न परमार्थ में अभिरुचि है ऐसे व्यक्तियों में जो दोष है उन दोषों का भी वर्णन अलग से कर देते हैं उनमें सब में इनका वर्ण है नहीं अब यहाँ से कहते हैं भगवान के सुन असंतन के सुधारू अब हम असंतों का स्वभाव बताते हैं असंत मन संत हो गए असंत मन विसंत नहीं है जो मैंने भगवान ने तो आगे चल करके उनको निशाचर कह दिया है तो जो संत नहीं है असंत है वो निशाचर निशाचर ही है तो कहते हैं उनको ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए भूलो संगत करिए न कारू कहते भूल करके भी इनका साथ न करे इनका ग्रहण इसलिए करते हैं कि अन्य लोगों में भी पहचानो कि जिनमें ये दुर्बल है उनके साथ न करें अपने आप में तो कोई नहीं हम्म, अपने आप में हम हिंदी तकनीक से कैसे जुड़ रही तो पहले ये है कि दूसरे लोगों में जहाँ कहीं ऐसे दोष दिखाई देंगे तो उनसे दूर रहो आप मत करो ये जरूर है कि उनसे घृणा मत करो उनसे बैर न करो लेकिन दूर मत कर करो जिनका भी हित है तो वो भी अपने दुर्गुणों को छोड़ करके सदगुणी बन जाए ये तो स्वभाव हो गया कि दुर्गुणों के दुर्गुण छूटे वो तो भी सदगुणी बन जाए किसी प्रकार से कोई उपाय उसमें काम कर जाए लेकिन ऐसा हो कि उनके सदगुण अपने जा रहे तब जब तो मैं कहते भूले संगत करने का संगत करने का कि जिसके साथ दुर्गुण तो सदगुण बने होंगे तो संगत हो गई अगर दूसरे के साथ नहीं तो उसके एक दोस्तों को बोलने सकता है इस प्रकार से वे असंतों बीच में रह सकते हैं डॉक्टर जब मंदिर में जाता है तो अपने इंफेक्शन के साथ में जाता है मगर जो इंफेक्शन होने की बड़ी संभावना होती है तो उसका बचाव करके जाएगा किसी बीमार आदमी के शरीर को तो बचाव लगाएगा हाथ धोएगा इस प्रकार है

जी के बेटे हैं Uno de परेशान में लगे रहने वाले हैं उस प्रकार के मुख्य लोगों का सुधार ये है अब इसके ऊपर से ऊपर के देशों को मिलाओगे तो शाम के गिरफ्त देने लिए उम्मीद है कारण जैसे संत लोग थे तो शाम के भी थे ग्रह के भी थे गुरु के भी थे सदा प्रसन्न रहने वाले थे ऐसे तो सारे पुरुष के संत लोगों के लक्षण थे और ये ये गए प्रकृति प्रति भलायन इनके विपरीत लक्षण इस प्रकार के क्योंकि है कारण सब आयोजन अत्यंत लोगों के लक्षण के संघर्ष उनकी शक्ति थी किसी से डर भाव नहीं था और जो अपने से मित्रता शत्रुता रखने वाले हैं उनसे भी संभाव था संतों का प्रिय लक्षण था और संतों का ये जो डर अकारण सबका अकारण है लोगों से डर ये भी नहीं कि दूसरे लोग डर मानते हैं उनसे झगड़ा करते तो क्या करें उनसे झगड़ा कर नहीं पड़ेगा ऐसा भी नहीं दूसरा कोई बजाय वाला नहीं करता तो भेद भेद करके तब भी देना पैदा करने के लिए उपाय कोई न कोई सोच लें हर किसी से दुबरा करेंगे और ये बात तो नहीं कहीं किसी से हो गई कोई बात ऐसी करके अपने समय से एक से किसी को डर हो तो उनका डर हर किसी से जो देखो उसी से डर जो देखो उसी से डर किसी से पक्की नहीं किसी से चलाए नहीं सबसे ज्यादा या सब बुरे और सबसे झगड़ा ये जो है दूसरी सुधार उस प्रकार देवी जो करेंगे जो कार्यश है जो हित करेंगे उसका जो अनुरोध करने को तैयार अब देखो बिल्कुल बात है संतों का लक्षण है जो दूसरा हित करे तो भी उसका हित करे और असंत हुए तो दूसरा हित कर रहा है तो भी उसके साथ में अभी कभी करेंगे बिल्कुल विपरीत लक्षण हो गए कहते उनका सत्ता जितना आचार व्यवहार जितना भी है सब झूठ के ऊपर निर्भर करने वाला है जैसे झूठे देना झूठे देना और झूठे भोजन झूठ करने में हर बात झूठ झूठे अरे कोई कोई तो डॉक्टर ने ऐसा लिखा है इसी प्रकार के दूसरे में आते हटाए झूठे झूठ बोलते रहते कोई इसमें मतलब नहीं तो भी झूठ बोलने का अभ्यास हो गया तो झूठ बोलते जाते कभी कभी तो ऐसा ही है शास्त्र में भी झूठ बोलने के लिए छूट दी गई अल्पसंख्यन है कई ऐसी कैसी भी स्थितियां आ जाती हैं जहां झूठ बोला जा सकता है लेकिन जहां झूठ बोलने की अनुसमा की आवश्यकता नहीं वहां पर भी झूठ बोलते झूठे लेना झूठे देना लेना देना सब झूठ लेना देना को झूठ बनाने क्या है कभी कभी लोग अपनी योजना दिखाने के लिए बोलेंगे अरे मेरे को लाखों रुपए घर में पड़े हुए लोग देते नहीं अपनी दशा क्या है अपनी दशा ये है कि छोटे कपड़े पहले घूम रहे हैं खाने को है नहीं है दर्दी दशा अपनी है जैसे लोगों को बताएंगे क्या करें लोगों ने हमारे रुपये मार दिए लाखों रुपये हमारा बटा हुआ खड़ा हुआ है तो लेना जो है वो झूठ बता दिया जितना इतना लेना है और देना झूठे देना और देनी झूठ के माने तो चाहे देने की उनकी बात है तुम तो बताएंगे कि हमें इतना उदाहरण दिए बैठे हुए हैं और उधारी हमारी जिंदगी चल रही है और हमें किसी प्रकार की जिंदगी करती नहीं है अब ये उदाहरण को देना से किसी बताएंगे अरे हमारा किसी को उधार का कुछ लोग कहेंगे संदर्भ तुमसे तगादे बरसात है तो अरे वो तो हमारे मिलने जुलने वाले जो आपके जानते हैं <laughs> उधार से पड़ेगा ऐसे करके वो बोले ही नहीं हमने उठा दे रखा इसके सब्जी में लगे हुए तो सब देना भी झूठा है और देना भी झूठा है ऐसे झूठे भोजन और खाना भी झूठे और झूठा खाना भी मैंने ऐसा नहीं झूठा खाने लिया दूसरा खाएगा झूठा खाना इस प्रकार के एक तो एक व्यक्ति को मैं नहीं बताते हैं एक व्यक्ति ऐसा था जिसके घर में अब वो बाहर बैठे उसमें कमरे में तो भीतर अब वो खा रहा था तो अब बाहर बैठे गए अब भीतर खाता है तो वो बुलाता है कहने के लिए कि जाओ चूड़ी और लाना एक कचौड़ी और लाना ऐसे जोर जोर से अरे सुना नहीं तुमने एक कचौड़ी और लाना अब इसको चावल भी चावल नहीं बोले पुलाव बोले इधर पुलाव और लाना चटनी की चटनी नहीं तो उसका बन रखेगा हलवा मेरा हलवा लाना तो ब्रिज जो चिल्ला चिल्ला के मैं हलवा लाना बड़ी घुमा करके गुण में करके बोलेगा जैसे कि बहुत जो है शुद्ध भाषा बिल्कुल बिल्कुल एकदम से है इस प्रकार को चिल्ला चिल्ला के कहा के भाई तुम उसको जो है एक चावल बोला जाता है भात बोला जाता है कहीं को ये पिलाव जो होता है वो तो उसमें तो और भी पड़ता है तो सामान वामान तब पुलाव बनता है इसके तुम पुलाव कहते कहते अरे साहब पुलाव ही है हम लोगों के लिए यही पुलाव इस प्रकार से अपनी लोग महिमा दिखाने के लिए वो लोग कितना कितना नाटक करते हैं इसमें घरों में तो दरवाजे में दरवाजे नहीं काट का पर्दा लगा और सड़क पर जब निकलते हैं तो पान खाए हुए सफेद टोपी लगाए हुए उतना जो है एक छड़ी लिए हुए और उसको जो है वो अकड़े अकड़े ऐसे चलते हुए मैदान में लखनऊ की बहुत प्राचीन ये सब क्या ये सब झूठा नाटक जीवन का जो है एक पात्रता जीवन में कुछ नहीं पाखंड पाखंड तमाम फैलाए हुए ये सब उस प्रकार के झूठा ही भोजन और झूठ चले ये एक प्रकार से ये जो मसला बन गया बहुत बार जो कहते हैं झूठी होना झूठी बनना ये मैंने उस प्रकार का तुलसीदास जी के बहुत सी चौपाइयां तो नहरे बने इसी प्रकार का गहरे का जीवन उठे देना उठे लेना नहीं बोलते हैं बोलते तो बोलते ही वो तो संतों का लक्षण है लेकिन कभी कभी ये ऐसे भी है जो बोले मधुर वचन जो मोरा बड़े प्रिय वचन बोलने वाले जो है बड़ी सभ्यता के साथ बड़े प्रिय वचन बोलेंगे लेकिन उनके भीतर सदन में क्या है हृदय से थोड़ा है मोर की तरह से जैसे मोर बोलेगा तो अच्छा भी बोलेगा लेकिन खाएगा सब विषैले सब तो खाएगा तो विषैले सब भरे हुए हैं और बाणी से बोल रहा है मधुर मतलब ऐसे लोग कपटी स्वभाव के अपने घरों में जो है उनके नहीं है दूसरे लोगों का अपमान करने के लिए उनको धोखा देने के लिए तो भाव भरे हुए उनके मन में धोखा भरे के भाव कपट के भाव और ऊपर से बड़ी मधुरता से बोलते हैं बड़े सम्मान के साथ में बड़ी प्रीता के साथ में लगाती खरीदी इस प्रकार से करके बार बार हंसेंगे बार बार जुआ बंदगी करेंगे इस प्रकार से बड़े प्रशंसा करेंगे लेकिन मतलब उसके पीछे क्या है दिखाने का नहीं तो ये सन्यासी जीवन इस प्रकार का जो ये सब असंतों का जीवन है ये संत लोगों को सुधार नहीं है तो बोल हम मधुर बचन जब हो रहा है हरि हृदय कठोरा और फिर कहते पर विरोधी पर भारत पर धन पर अपराध अब देखो दूसरों के साथ में कैसा कैसा व्यवहार पर द्रोही दूसरों से द्रोह रखने वाले द्रोहन व्यवहार रखने वाले दूसरों से पर भारत पर स्त्रीजन दूसरे का ध्यान धर्म कर जाने वाले दूसरे को पैसा मिल जाए भारत नेपाल के वापस जाने का नाम कागज खजाना अखबार अखबार को दूसरी की निंदा करने वाले निंदा एक बात और अखबार दूसरी बात अखबार भी एक प्रकार की निंदा है लेकिन झूठी निंदा अखबार झूठा दोषारोपण अखबार तो दूसरों को झूठे दोष लगाना उनका इस असंतुल करने का काम करते हमारे हमारे कार्य में ये सब पाप के काम है बस यही पुष्पों की जो पुस्तता है वही पाप है तो मेरे कामर ये बीच प्रकार के जैसे कामर पाप में ये जो है काफी उनका जीवन है ये सब जिनमें ऐसे ऐसे दुर्गुण है ये सब पाप के जीवन देव भरे मिल जाए अब कैसे देखो भगवान कहते हैं कि शरीर भरे मनुष्य का लेकिन है मन जाए मर्यादा सवन अनुसार है नहीं जो सत्ता है मर्यादा जो मनुष्यों को खाया वो कौन वो निकास है इसलिए मर्यादा मैंने सभी अन्य व्यक्तियों को धोखा दे ग्रहण पहुंचावे गए खाल करे तो दूसरों के साथ में जो इस प्रकार की बात हो गई राक्षसी प्रकार हो गया तो कहते हैं ये ये Senhor.

ऐसे करके लोग में पड़े हुए हैं ऊपर से नीचे तक लोभी हो रहे हैं लोभे दासन में लोभी होना है उनका लोभी बिछौना है मैंने ऊपर नीचे लोग लेकर रथ में पूरे लोग लोभे हो रहे लोभे दासन और कृष्णोदर पर जब पर प्रार्थना है कृष्णोदर के मैंने खाने पीने और दस में निमंत्र रहने वाले पड़े हुए हैं और उनको कोई नीति अनीत का कोई स्थान नहीं क्या नियम पूर्वक है क्या बेनियम है क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है इससे सब कुछ हमें कुछ मतलब बस हमें केवल अपने स्वास्थ्य से मतलब अपने इंद्रिय भोगों से मतलब अपने शारीरिक सुखों से मतलब उसी में निबंध रहने वाले हैं और उनको इस बात का कभी जनपुर प्रार्थना उनको ये पता नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद हम जाएंगे अग्नि में ले जाएंगे फिर वहां कैसे कैसे कष्ट भोगने पड़ेंगे दंड मिलेंगे उसकी कोई चिंता नहीं वो सदा कुछ है अरे उसकी प्रणाम की जो समय बढ़ाई ये लोग अगर देखते हैं दूसरे की बड़ाई शंकर की जैसे दूसरे की संपत्ति है ये बड़ाई है प्रशंसा सुनते हैं तो श्वास में ही कहीं दूरी आई तो श्वास में हमें लंबी सांस होते हैं बाहर जैसे कि उनको जो है प्रेम निराशा काका की बात हो गई बड़ा दुख हो गया ऐसे जन की साथ देते जन जोड़ी वाले जगह में जोड़ी वाला बुखार आ गया जोड़ी जगह बुखार आ गया तो सर्दी लगती बड़ी जोर में जो बुखार आता है और जोड़ी वाला बुखार कहलाता है कि जैसे बुखार आ गया और हो ऐसे बुखार आ जाता है और जब आदमी की देखने विपत्ति जब दूसरे को जब देखते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति विपत्ति में पड़ा हुआ है जैसे सुखी है लखपति ऐसे पूरे सारी दुनिया की यही राजा हो गए हैं ऐसे प्रसन्न है दूसरे जीव विपत्ति को स्वास्थ्य परिवार विरोधी अच्छे देखो मुझे स्वास्थ्य में रहते हैं स्वार्थ रथ परिवार विरोधी इतने स्वास्थ्य पड़े हुए हैं कि जो अपने परिवार को भी विरोध करने वाले और दुनिया शुरू करने वाले जब ज्यादा दृष्टता व्यक्ति में आ जाती है तो वो अपने परिवार के ही लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगा अपने माता पिता से झगड़ा करने लगे अपने भाई बंधुओं से हितकारी करने वाले जो उन्हीं से झगड़ा करने लगे तो मारपीट करेंगे तो स्वास्थ्य इतने स्वास्थ्य में पड़े कि परिवार को स्वास्थ्य मैंने अपने मतलब से होगा दूसरे से अपने से अलावा कोई निकट का दूर का कहीं कोई व्यक्ति अब गुरुदेव ने इस प्रकार के विभाजन मनुष्यों को किए तो वहां कहते हैं ये मनुष्य जो है वो कई कोटियों के होते हैं कोई पत्थर जैसे हैं कोई पेड़ पौधे जैसे हैं कोई पशुओं की तरह से हैं फिर कोई मनुष्य मनुष्य के जैसे हैं और फिर कोई मनुष्य देवता जैसे हैं ऐसे विभिन्न प्रकार के विभाजन किए तो जो सबसे निम्न कोट के हैं पत्थर जैसे जल व्यक्ति के उन्हें तो हो सही अभाव नहीं करोगे संभाल के जीवन दर्शन का नष्ट होता है लेकिन पेड़ पौधे की तरह से हैं तो पेड़ पौधे की तरह से पेड़ पौधे में शायद सबसे ज्यादा साफ लोगों को देखो तो पेड़ के नीचे कोई दूसरा पेड़ पैदा पौधा नहीं हो सकता उसके बीज गिरेंगे तो वहीं नहीं देखेंगे दूर गिरेंगे आपको कहीं तो भले जम जाए लेकिन पेड़ अपने नीचे अपने ही बीज तक जमने नहीं देगा ऐसे ही जो है कोई कोई दुष्ट व्यक्ति ऐसे कि अपने ही बच्चों से विरोध करने वाले अपने ही परिवार के पत्नियों से मिल से करने